बड़ा अच्छा लगे केवल अहिंसा के मार्फत शांति के मार्फत हिंदुस्तान को आसानी मिलती तो फल तो हमारे पास ये आया कि हिंदू मुसलमान सिख मुसलमान आपस आपस में दुश्मन बन गए हैं मैंने पहले तो मान रखा था कि अच्छा हो सकता है तो अहिंसा से हमारा काम चलता है लेकिन ईश्वर ने मुझको अंधा है इसलिए मैंने मान लिया वो सच्चा नहीं माना वो क्यों लूडे आदमी है पंगु है जो नामर्द है डरपोक है उनसे अहिंसा चल नहीं सकती जिसको संज्ञा हो गई है ऐसा एक बच्चा भी है वो सारी दुनिया के सामने खड़ा रह सकता है जैसे प्रहलाद हमारे पास तो वो कहा है वो तो एक दृष्टांत रूप है प्रहलाद हो गया कि नहीं वो हम जानते भी नहीं है लेकिन मेरे लिए तो वो ऐतिहासिक हो, हो से भी अधिक है क्यों तो वो शीर्ष को मैं मानने वाला हूँ तो वो तो बालक था ना बालक था लेकिन उसने वो अपना दैत्य रूप था राक्षस गुरु था उसके पास से उसने कहा कि नहीं तो राम का नाम मत ले तो उसने कहा कि मैं कहो मेरी पार्टी में दूसरी चीज आप बेचने नहीं जब आप कुछ भी मुझको सिखाएं लेकिन मेरे नाम से तो मेरे मेरी कलम से राम का ही नाम दूसरा मैं देखता नहीं तो मैं क्या करूँ तो वो ऐसा था लेकिन वो शेर था और उसका तो पिता और सब सारा राक्षस उसको मारने के लिए तैयार हो गए लेकिन वो तो अपने काम पर खड़ा ही रहा ये प्रहलाद तो आख्यान है हम समझते हैं और मैं तो मानता हूँ मेरे सामने तो वो प्रहलाद वो बारह बरस का लड़का आज भी खड़ा है इस तरह से समझो क्योंकि ऐसा मैं श्रद्धा रखने वाला आदमी हूँ तो वो तो वो तो डरों की श्रद्धा अहिंसा हो गई अहिंसा तो हुई बालक की तो इसलिए वो पंगु नहीं शरीर के लेकिन जिसका आत्मा से जो पंगु है दूल्हा है दूल्हा है अंधा है वो सब वो सब अहिंसा उनसे चल ही नहीं सकती है जब तक उनको दिल में प्रकाश नहीं हो गया है तब तक वो अहिंसा समझ नहीं सकता वो हम नहीं समझे हमने नाम दिया अहिंसा का वो बात सच्ची है तो नाम से भी कितना काम हम निकाल देते हैं उसका दृष्टांत कोई है तो है तो मैंने तो कहा तो वो अंग्रेजों ने जिसको पैसिव बिजनेस कहा वो था तो उसको ऐसा कहो पैसिव के माने मंद मंद विरोध हमारा था तो मंद विरोध के तो माने ये हो गया ना हम मारेंगे नहीं मारेंगे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हम मारना चाहते नहीं दिल तो चाहता है तो मारे लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है इसलिए तो कम ताकत हम रहे रहे कंधे रहे कूड़े रहे इसलिए तो मारे उसका नतीजा भी यह है कि उन्होंने देख लिया कि वो लोग को हमको मारते ही नहीं है और मारे कोई किसी को तो मारा वो दूसरी बात है लेकिन जो करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया उन्होंने ये नहीं काम किया नहीं किया उसका नतीजा तो आया तो सही क्या आज़ादी तो मिली लेकिन वो जरूरी आशा दी क्योंकि हमारी शक्ति अहिंसा नहीं थी